प्रतिबंधान न कस्यचिदपि ब्रह्मण स्थिति सिद्धेत इति आशंका शब्दादि इंद्रियों का विषय विषय में प्रेम स्वाभाविक है सबका ही है विषय में प्रीति वो विषय में स्नेह जब तक है वो प्रतिबंधक है विषय प्रेम तो विषय चिंतन इंद्रिय विषय को वृत्ति है तब विषय की वृत्ति संस्कार ये रहेगा तो ये प्रतिबंध होने पर कस्यचित ब्रह्मण स्थिति न सिद्धित ब्रह्म में स्थिति निष्ठा नहीं होगी लगातार नितराम स्थिति निष्ठा है विषय चिंतन करेगा तो ब्रह्म में स्थिति कैसे हुई ये प्रतिबंधक होगा ये शंका करते ब्रह्म में स्थिति संभव ही नहीं इस शंका से आगे कहते किंच ब्रह्म स्थित ब्रह्म में स्थित करने पर कैसे रहना और ब्रह्म स्थित से क्या प्राप्त करता है और कैसे साधन है किंच कह करके किंच क्यों कहते दूसरे कुछ कहने के लिए न केवलम पूर्वोक्त रीत्या ब्रह्म स्थित हो हर्ष विषाद रहित किन्तु विधांतर ना भी ब्रह्म में स्थित होने पर हर्ष विषाद रहित होता है पहले जैसे कहा था इतने नहीं अन्य प्रकार से भी अन्य भी कारण है यावत यावत विशेष राग रूपम आवरण निवर्तते तावत तावत आत्मस्वरूप सुखम अभिव्यक्तम भवती विषय में राग आसक्ति ये स्वाभाविक है वही है आवरण आत्म आनंद का आत्मा आनंद के लिए आवरण ढाक कर रखा है विषय में राग विषय में दोष दृष्टि करने पर वैराग्य होने पर जितने जितने राग रूप आवरण नष्ट होता है विषय में विषय में आसक्ति है इंद्रियों की प्रवृत्ति बाहर के हुए स्वाभाविक है अनाधिकार से है भोग जितने करने पर भी संतोष नहीं होता है अभी तो वासना बढ़ती है तो जब दोष दृष्टि करके परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से धीरे धीरे इंद्रियों को निग्रह कर हटाए आसक्ति हटे जितने जितने आवरण नष्ट होता है इतने इतने आत्मस्वरूप सुख की अभिव्यक्ति होती आत्मस्वरूप सुख आनंद नित्य आनंद ही उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती इंद्रिय में कालुष्य कलुषता है रजगुण तमोगुण काम क्रोध राग द्वेष आदि रहने पर जैसे जल में महिला है और ऊपर काय आदि कुछ है जिसके कारण प्रतिम्ब स्पष्ट नहीं दिखता है जब काय आदि मल हट जाए जल स्वच्छ हो जाता है तो प्रतिम्ब स्पष्ट होता है आकाश में सूर्य चंद्र आदि का प्रतिम्ब उसकी अभिव्यक्ति स्पष्ट होती है आत्मा रूप आनंद नित्य आनंद स्वरूप अपना है उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती अंतकरण में कालुष्य कलुषता है राग द्वेष काम आदि जब ये राग रूप आवरण हट जाता है आवरण हट जाने से जैसे जल से काई हट जाने पर स्वच्छ होने पर प्रतिम्ब स्वच्छ होता है ऐसे स्वरूप नित्य आनंद की अभिव्यक्ति होती तावत तावत आत्म सुख की अभिव्यक्ति सुखम अभिव्यक्त होती इस अभिप्राय से आगे कहते भगवान बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि यत् सुखम सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमाक्षयमश्नुते बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा विंदत्यात्मनि सुखम बाह्य स्पर्शु असक्तात्मा आत्मनियत सुखम विन्दती तद विन्दती बाह्याश्च स्पर्शाश्च बाह्य स्पर्शा स्पृश्यंत स्पर्शा इंद्रिय का विषय बाह्य जो इंद्रिय का विषय है उसमें असक्त आत्मा असक्त आत्मा यश्य आत्मा का अर्थ का नाम तकन असक्त आत्मा अंतकरण व्यस्य जिसका अंतगण बाह्य विषय से असक्त है आसक्त नहीं असक्त असक्त नहीं है असक्त है आंग को सक्त होता है आसक्त है और असक्त होता है असंग है अर्थात विरक्त है बाह्य विषय से इंद्र हट जाता है इंद्र निवृत्त हो जाता है उपरत हो जाता है तब आत्मनि यथ सुखम आत्मा में जो सुख है आत्मनि या सुखम वो आत्मस्वरूप ही आत्म विषय में जो सुख है नित्य निवृत्ति से आनंद है आत्मा विज्ञानम आनंदम ब्रह्म श्रुति करते हुए आनंद रूप है यह सुखम तद बिंदती वो प्राप्त करता है जो बाह्य विषय में असुक्त आत्मा बाह्य विषय से विरक्त होकर के असुक्त होने पर ही आत्मा में जो परमानंद है उसको प्राप्त करता है सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा है ब्रह्म में योग ब्रह्म योग ब्रह्मणी योग समाधि ब्रह्म योग न युक्त ब्रह्म योग युक्त ब्रह्म में समाधि अनुष्ठान से युक्त है आत्मा का संतकरण यश ब्रह्म योग न युक्त ब्रह्म योग युक्त ब्रह्म योग युक्त आत्मा यश जिसका अंतकरण ब्रह्म में अनुष्ठान रूप योग से युक्त है ऐसे साधक अक्षयम सुखम असुनते अक्षय क्षय रहित क्षय जय सत्यार्थ जो क्षय होने योग्य सत्य नहीं नित्य सुखों को प्राप्त करता है में न केवलम असक्तात्मा समवसाद सुखम विन्नति केवल असुप्त आत्मा इंद्रिय से असुक्त विषय से असुक्त हो गया सम हो गया समदम इतने मात्र से सुख को आत्मा सुख को प्राप्त कर लेता है इतने नहीं किंतु ब्रह्म समाधि न ब्रह्म में समाधि समाहित अंतकरण समाहितम अंतकरण यश्य ब्रह्म में ही समाहित हो ब्रह्म का ही चिंतन करे तो प्राप्त करेगा बाह्य विषय को छोड़ दिया इतने मात्र से नहीं होता है समाहित अंतगण सुखम अनंतम प्राप्त थी अनंत सुख को प्राप्त करता है सब ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षय स्मृति यहाँ तक श्लोक की व्याख्या टीका करने की अभी भाष्य की व्याख्या करने के लिए कहते हैं तत्र पूर्वार्थम व्याचस्ते श्लोक का पूर्वार्थ की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं बाह्य स्पर्शेशु बाह्याश्चते स्पर्शाश्च बाह्य स्पर्श कर्म द्वारा समास हुआ स्पर्श कर्मणि घय प्रत्यय स्पृश्यंत स्पर्श जो स्पर्श का विषय स्पर्शंत इंद्रिय के द्वारा विषय का ग्रहण और स्पर्श हो गया विषय शब्द विषय प्रत्येक इंद्रिय का विषय जो बाह्य तेसु बाह्य स्पर्शेश असक्त आसक्त नहीं असक्त चाहिए आकार अधिक बायस्पर्शु असौत आत्मा यश बहुरी आत्मा का अंतकरण आत्मा अंतकरण यस्य सो अयम असक्त आत्मा बाह्य विषय में जिसका अंतकरण असक्त है अर्थात विषय में प्रीति वर्जित सन विषय में प्रीति वर्जित विषय में प्रीति तो स्वाभाविक है उसे प्रीत रहित अनित्व जो दोष दृष्टि करे परमानंद की प्राप्ति है वैराग्य होने से धीरे धीरे ये मिथ्या है वास्तव में सपने में विषय वस्तु है विषय दिखते हैं उसमें भी प्रेम होता है किन्तु मिथ्या है इस प्रकार विचार करते करते और लक्ष्य उद्देश्य निश्चय करे परमानंद की प्राप्ति है ध्येय अपना उसको प्राप्त करने के लिए इस विषय से प्रीत रहित होना चाहिए प्रीत वर्जित सन बिंदति लभते आत्मनियत सुखम तद बिंदती के तत् आत्मनियत सुखम तद बिंदती आत्मा में जो सुख है नृत्य से अक्षय सुख परमानंद उसको प्राप्त करता है टीका में समाधानाधीन समय ज्ञान द्वारा नृत्य से सुख प्राप्ति उत्तरार्थ व्याख्यान कथे बाहर से हटना इंद्रिय मन से बाहर वस्तु चिंतन नहीं करना ये समोदम साधन कहे किन्तु इतने मात्र से आनंद प्राप्त नहीं होता है ज्ञान चाहिए और ज्ञान कैसे होगा समाधान अधिन समाधि के अधिन बाह्य विषय चिंतन छोड़ करके आत्म विषय चिंतन लगातार करने पर ही समय ज्ञान होता है समाधान समाधि के अधीन समय ज्ञान के द्वारा से सुख की प्राप्ति निर्गत तो अतिशय यशमात से जिससे अतिशय ही नहीं वो निर्गतिशय सबसे बढ़ करके जितने प्राप्त हो जाने पर भी उससे अधिक कहीं देखा तो अपने कमती कमती का अनुभव होता है किन्तु ये आत्मानंद है नृत्य शेख उसके बढ़ करके और कोई अधिक है ही नहीं नृत्य से सुख प्राप्ति उत्तरार्ध व्याख्यान है न कथे श्लोक के उत्तरार्ध की व्याख्या करके भगवान भाष्यकार कहते ज्ञान के द्वारा नृत्य से सुख की प्राप्ति होती है ब्रह्मणी योग समाधि ब्रह्म योग सब्रह्म योग युक्त आत्मा ब्रह्म योग युक्त आत्मा का अर्थ करते ब्राह्मण योग ब्रह्म योग योग का अर्थ समाधि ब्रह्म में समाधि ब्रह्म योग ब्रह्म योग का ब्रह्म में समाधि अब ब्रह्म योग युक्त ब्रह्म योग ने युक्त ब्रह्म योग युक्त तेन ब्रह्म योग युक्त ब्रह्म योग युक्त ब्रह्म योग से युक्त कौन होगा अंत कौन होगा युक्तवाद समाहित ब्रह्म योग से के द्वारा समाहित है तस्मिन व्यापृत ब्रह्म में समाधि में स्थित है आत्मा का अंतकरण से जिसका अंतकरण ब्रह्म योग से युक्त ब्रह्म योग ब्रह्म में समाधि करने में व्यापृत है समाधि अनुष्ठान करता है अंतकरण और कुछ नहीं ब्रह्म विषय की चिंता नहीं सब ब्रह्म युग युक्त आत्मा ऐसे जो ब्रह्म युग युक्त आत्मा है अक्षयम सुखम अस्मृति क्षय रहित नित्य सुख को प्राप्त करता है ठीक है शब्दादि विषय विमुख से अनंत सुख प्राप्ति संभव अनंत सुख प्राप्ति का संभव है शब्दादि विषय विमुख से शब्दादि इंद्रिय के विषय उसे विमुख आवृत चक्षु कष्टी धीर प्रत्येगात्मान ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छा अमृतत्व मोक्ष की इच्छा करते हुए इंद्रियों को विषय से हटाए तभी कश्चित धीर तभी उसको धीर कहते वही अमृतत्व प्राप्त करता है प्रत्येगात्मा का साक्षात्कार करता है शब्दादि विषय विमुख से विषय से विमुख हो जाए इंद्रिय तब अनंत सुख की प्राप्ति संभव है तदर्थना जो अनंत सुख चाहता है तदर्थना किन करणियम प्रयत्न विषय वैमुखम कर्तव्य प्रयत्न पूर्वक बहुत प्रयत्न करके विषय में दोष दृष्टि करके अपना ध्येय लक्ष्य किया है मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हमको क्या करना है कितने दिन जीवित रहना है मृत्यु के बाद क्या होगा अब तक तो हमको समय कितने चला गया और कितने समय रहा मृत्यु कितने दिन में रहने वाली है कोई निश्चय नहीं एक घड़ी में एक घंटा में एक दिन में एक माह एक वर्ष कभी हो सकता है तो उसके पहले हमको कैसे लक्ष्य को प्राप्त करना ऐसे विचार करके जो अनंत सुख प्राप्ति चाहता है प्रयत्न विषय वैमुख्यम कर्तव्य विषय से वैमुख्य विमुखता इंद्रिय में करनी चाहिए अंतकरण इंद्रिय विषय से हट जाए ये करना है यदि अनंत सुख प्राप्ति की इच्छा है यदि शिष्य शिक्षार्थम आह शिष्यों की शिक्षा के लिए भगवान भाष्यकार कहते तस्माद बाह्य विषय प्रीत है क्षणिकाया इंद्रिया निवर्तित आत्मनि अक्षय सुखार्थी आत्मा में जो अक्षय सुख है उसको जो चाहता है वो बाह्य विषय प्रीत है बाह्य विषय में जो प्रीत है वो क्षणिक है सुख उससे प्राप्त होता है क्षणिक सुख इंद्रिया निवर्तित इंद्रिय को से हटाए आत्मा में अनंत सुख चाहने वाले इंद्रियों को बाह्य विषय से हटाए बाह्य विषय प्रीति होती है स्वाभाविक अनाधिकार से संस्कार होने से स्वाभाविक है इंद्रिय बाहर को चल जाना और क्षण के जो स्नेह क्षण के आनंद प्राप्त है उससे इंद्रियों को हटाए यही भगवान भाष्यकार कहते शिष्य शिक्षा के लिए श्लोक बोला

परमानंद की प्राप्ति होती इत निवर्त इसलिए इंद्रियों को विषय से हटाए विषय सकाशात इंद्रियाणी शेष इत निवर्त निवर्त किम इंद्रियाणी कस्मा निवर्त विषय सकाश विषयों से इंद्रियों को हटाए इतस्त निवर्त इसके इतने समझ जोड़ करके अर्थ करना वैराग्यार्थमय वैषयिकानी सुखानी दूषयित तो वैषयिक सुख का दूषण करते है श्लोक में वैराग्य के लिए ये ये ही संस्पर्शजा भोगा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नय एवते दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौंतेय आद्यंतवंत कौंतेय न बुध न बुध ये ही संस्पर्शराग संस्पर्श जहा भोगा संस्पर्शजा ते दुख यो आद्यंतवंत दुख यो तेसु बुध न रमते हे कौनते संस्पर्श जाता जा भोगा संस्पर्श क्या इंद्रिय के साथ विषय का संबंध विषय इंद्रिय संबंध से होने वाले जो भोग है सुख दुख है दुख सुख प्राप्त होता है सब दुखों के योनि कारण है क्योंकि सब आविद्य के वास्तव सुख नहीं है वास्तव परमानंद सुख अलग है और इंद्रिय के साथ विषय संबंध होने से वासना की निवृत्ति होने से तो जो मन में चांचल्य कंपन है जल कंपन बंद होने से जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट हो जाता है जैसे इंद्रिय में वासना है राग है आवरण और काम क्रोध लोभ वही सब विषय की इच्छा है ये थोड़ा ठंडा हो जाता है शांत हो जाता है स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति होती है आनंद का प्रतिबिंब होता है थोड़े प्रतिबिंब को ही प्राप्त करके जो कि अपना बिंब रूप परमानंद का ही प्रतिबिंब है अपना स्वरूप का ही कुछ अंश है अंश तो नहीं करेंगे उसका प्रतिबिंब है सुखाभास है सुख वास्तव नहीं है उसको प्राप्त करके विशेष से प्राप्त हुआ करके आरोप करता है विशेष से जैसे कुत्ता हड्डी चबा करके अपने मुख से खून पीता है और सोता है हड्डी से मिलता है आनंद तो अपना स्वरूप है उसका प्रतिबिंब अंतकण में हो जाता है अंतकण जो थोड़ा शांत हो जाता है तो विषय प्राप्त होने पर ऐसे प्राण लगता है जैसे बच्चा खिलौना प्राप्त करने से खुश हो जाता है मुझे मिल गया बहुत इसी प्रकार विषयी कहानी जब कुछ विषय प्राप्त कर लिया वो सोचता है कि मैं कृतकृत्य हो गया मुझे सब मिल गया शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए उस समय स्वरूप आनंद की अभिव्यक्ति प्रति में थोड़ा सा होता है और वह आरोप करता है विषय से प्राप्त हुआ उसके बाद वो समाप्त हो जाता है क्षणिक है वैषयिका सुखानी वैरागार्थम कत यही दुख यो न अविद्या तो है वास्तव नहीं वास्तव सुख तो अपने स्वरूप आनंद है उसके अतिरिक्त जो विशेष सुख अज्ञान से ही आरोप करता है विशेष प्राप्त हुआ अविद्या तो होने का दुख योनि कारण है दुख योनि एवते आद्यंतवंत आद्यंत वाले जिसकी आदि और अंत उत्पत्ति और नाश है वो वास्तव नहीं होता है अवास्तव अविद्यात है और अविद्या करते तो मिथ्या वस्तु से जो सुख प्राप्त करता है लगता है वो झूठा है पीछे फिर देखता है कि व्यर्थ है उसे दुख ही मिलता है मत है सुख बुध रमत है बुध विवेकी उस विषय में रमण नहीं करता है विषय तो मृग तृष्णा जैसे विवेक नहीं अविवेकी उसके पीछे भागता है विवेकी से रमण नहीं करता है टीका में भाष्य में ये ही टीका में ननु विषयन्द्र संयोग संप्रवसुतेषु भोगेशु जंतुनाम अभिरुचि दर्शनाथ कुतस्तेषा दुख योनित आशंक्य अविवेकिनाम तेसु आसंगे भी न विवेकिनाम इत्याह शंका करते विषयेन्द्र संप्रयोग संप्रसुतेषु भोगेशु विषय और इंद्र के संप्रयोग संबंध संबंध से सम्यक प्रसूत होता है उत्पन्न होता है भोग सुख सुख साक्षात्कार सुख ज्ञान होता है तो इंद्र संप्रयोग संबंध होने से उत्पन्न होता है सुख भोग उसमें तो जंतु नाम अभिरुचि स्वाभाविक रुचि है ही दिखते ही दिखती है सब चाहते हैं विषय को करने से सुख मिलता है और उसको तेषा योनि तुम दुख का योनि कारण कैसे हुआ दुख कारण कैसे हुआ तो सुख है सुख प्राप्त होता है इतना असंख्य अविवेकी नाम तेसु आसंगे अविवेकी तो विषय में आसक्ति उनकी होती न के नाम विवेक की उनकी आसक्ति नहीं हुई विवेक के लोग विचार करते ये विषय क्या है सपने में भी विषय से सुख प्राप्त होता ही किन्तु विषय मिथ्या है तो विषय मिथ्या होने से बाद में निश्चित होता है कि ये सुख कुछ नहीं करते इस प्रकार विवेकी केवल जानते हैं श्रुति प्रमाण से नया नाना इत्यादि महात्मा का अनुभव शास्त्र प्रमाण ये मिथ्या है प्रपंच सदैव समेदम आसित एक आदित्यम बहुत होती है ब्रह्म वेदम ब्रह्म से भिन्न जो है मिथ्या है तो झूठे वस्तु से सुख प्राप्त होता है तो अज्ञान से ही आद्यंत वाला होने से वास्तव नहीं है इसलिए विवेकी उसी वस्तु से वस्तु में रावण नहीं करते वो सुख नहीं चाहते आद्यंत बंत यदि में ये ही ही का अस्मात संस्पर्शजा संस्पर्श संबंध उससे उत्पन्न होने वाले संबंध किसका विषय इंद्रिय संबंध से विषय इंद्रिय संस्पर्श से भू जाता भोगा भुक्त यो दुख योनि बते दुख के योनि कारण है क्योंकि के तत्व के होने से दुख नहीं टीका में यस्माद आधि व्याधि जरा मरणादि सहित समागमनादि क्रिय रूप भागीभ्य विषेन्द्र संबंधेभ्यो भोगा सुख लव अनुभव जायते तस्मात दुख हेतु तो भवंती योजना आदि व्याधि जरा मरणादि सहित भोग होते हैं इनके साथ आधी है मानसी व्यथा व्याधि शरीर रोग आदि हो गया मानसिक व्यथा व्याधि सर्वरोग जरा वृद्धावस्था मरण आदि से अन्य सब कष्ट निंदा बहुत कष्ट है शीतोष्ण आदि इनके साथ ही समागमनादि क्लेश रूप व्यस्त विषय इंद्र संबंधेभ्य विषय इंद्र संबंध कैसे इनके साथ संबंध करने वाले क्लेश रूप भाग्य क्लेश रूप को प्राप्त करने वाले विषय सम्मेलन से ये सब प्राप्त होता है केवल सबको ही भोगना पड़ता है आदि व्याधि जरा मरना आदि भोग दुख भोग करना ही पड़ता है विषय इंद्रिय संबंध से भोग होता है तो उनके साथ ही ये भी रहते हैं आदि व्याधि जरा मरना आदि दुख भी रहते सुख अनुभव आ जाएंगे उसमें सुख लव अनुभव सुख थोड़े मात्र अनुभव होता है तस्नाते दुख हेतु तो भवंती योजना इसलिए दुख के हेतु तो। क्योंकि जो सुख कुछ थोड़ा भोग होता है उसके साथ इतने ही सामान्य सुख भोग रहेगा तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख तो उसके साथ रहता ही है अनंत दुख है मरते समय बहुत कष्ट होता है जन्म के समय कितने कष्ट होता है ये गर्भावास है बहुत रोग सब दुख है ये दुख के साथ ही प्राप्त होता है केवल सुख नहीं होता है दुख है तो वो भवंती और जो स्वर्ग आदि सुख है उस समय बहुत दुख नहीं रहता है लेकिन दुख रहता है और समाप्त हो जाता है समाप्त होने पर फिर दुख प्राप्त होता है इसे दुख के हेतु है अविद्या कार्यता नाम कुतो भोगजन्य तुम इतिहास दुख हो गया अविद्या कार्य तो आज भाष्य में दिया थे अविद्याकृत तो दुख तो अविद्यात है तो भोगजन्य कैसे होगा दुख अनंत जो कहा दुख के हेतु दुख तो अविद्या कार्य भोग करने पर सुख भोग करेंगे तो दुख क्यों मिलेगा इत आशंक्य भोगा नाम अविद्या प्रवृत्त भोग भी अविद्या प्रवृत्त अज्ञान से ही भोग है वास्तव नहीं तम निबंधन तम दुखानामित तम इसलिए भोग मूलक ही दुख है अविद्या मूलक होने से ही भोग युक्त वित्त अभिप्रेत अविद्या कृतत्वाद नाम दुख नित्य महानम अनुभव उपन्यस्यति भोग दुख का योनि के कारण है उसमें मान मतलब प्रमाणम क्या प्रमाण है अनुभव अनुभव ही प्रमाण है अपना अनुभव ही भोग दुख का कारण इसको कथन करते भाष्य में दृश्यंत ही आध्यात्मिक आदि ने दुखानी तनिमित्त आध्यात्मिक आदि दुख भोग निमित्त को दिखते हैं भोग करने पर ये सब रोग आदि कष्ट होते हैं भोग से भोग जितने जितने करते हैं इतने इतने इंद्रिय क्षीण होते हैं सर्व रोग होता है यथे लोके तथा परलोके भी इति गम्यते एवं शब्दार्थ दुख योने एवते दुख योन ही है एवं जन से जैसे लोक में ही भोग के कारण दुख होता है ऐसे परलोक में भी भोग के कारण दुख होगा ठीक है अहिकानाम भोगान दुख निमित्त भी नामुष्मी नाम तथा तुम इस लोक में भोग दुख का कारण है ये तो ठीक है दुख निमित्त है किन्तु अमुस्मिन लोग परलोक में स्वर्ग में होने वाले सुख है भोग है वो तो दुख का कारण नहीं हुआ तथा तुम न तथा तुम दुख तो नहीं हुआ क्योंकि अनुभव अभाव यहाँ तो अनुभव होता है जो स्वर्ग में तो ऐसा अनुभव नहीं होता है इतिहास क्यों अवधारण सामर्थ्य सिद्धम अर्थम अवधान क्या है दुख योने एवं दुख के कारण ही है एवं कारण अवधान सामर्थ्य से जो अर्थ सिद्ध निश्चित होता है उसको कहते यथा यह लोके तथा परलोके भी अनुभव अनुमान हो जाएगा इस लोक में जैसे भोग दुख का कारण जहाँ जहाँ भोग सब दुख कारण हो जाएगा पूर्वार्थ से अक्षरार्थ मुक्त तात्पर्य अर्थ महा यही संस्पर्श भोगा दुख एवं एवते पूर्वार्थे इसके शब्दार्थ कथन करके और तात्पर्य अर्थ करते भाष्य में भगवान न संसारे सुख से गंधमात्र अस्थिति बुद्धवा विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रिया निवर्त संसार में सुख से गंधमात्र नास्ती सुख के गंध मात्र भी नहीं कुछ भी नहीं वो केवल भ्रांति होती सुख संसार से मिलता करके जैसे कुत्ता को भ्रांति होती हड्डी से मिलता है सुखी हड्डी को चबाता है ये विषय से सुख प्राप्त होता है ये भ्रांति होती है सुख तो अपना स्वरूप ही उसका प्रतिम्ब अंतगण दिखता है गंध मात्र भी सुख नहीं है ऐसा निश्चय समझ करके निश्चय करके मृग विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रिया निवर्तित ये विषय इंद्रियों के विषय मृग तृष्णिका के समान जल नहीं जल जैसे दिखता है विषय से सुख नहीं मिलता है भ्रांति होती सुखाभास सुख विजनक इसे मृग तृष्णिका से इंद्रियों को निवृत्त कराए <clears throat> ये हो गया पूर्वार्ध का तात्पर्य इत विषय सकाशा इंद्रिया ने निवर्त ज्ञानी विषय से इंद्रियों को हटाना चाहिए ये भी कारण आगे कहते हैं न केवलम दुख योनय दुख के कारण वो इतने मात्र नहीं आद्यंतवंत आद्यंत वाले भी है विषय आदि विषय इंद्रिय संयोग विषय इंद्रिय संयोग भोगाना आदि विषय इंद्र संयोग होने पर उत्पन्न होते अंत तद वियोग विषय इंद्र संबंध समाप्त हुआ भोग का समाप्त हो गया अतएव अत आद्यंतवंत अनित्य आदि अंत उत्पत्ति नाश वाले अनित्य मध्य क्षण भावित केवल मध्य क्षण आदि में नहीं अंत में नहीं मध्य में रहते वो वास्तविक नहीं आद्यंतवत्ते मध्य क्षण वर्तित्व न क्षण भंगुर आद्यंत वाला होने मध्य क्षण वर्ती हुआ क्षण भंगुर है अनित्य है जो क्षणिक सुख है होने से भोगानाम उपेक्षणीय थी उपेक्षणीय स्थिर स्थायी नित्य सुख सब चाहते अनित्य सुख से वैराग्य हो विषय घटाए भोगानाम उपेक्षणीय उसकी उपेक्षा करनी चाहिए अस्थि तेषा क्षण भंगुर क्षणिक विषयाकार मनोवृत्ति व्यंग्यवाद मनमान संदाह अस्थि तेषा क्षण भंगुर तो भोग क्षण भंगुर है क्षण स्थायी क्यों क्षण सही है क्षणिक विषयाकार मनोवृत्ति व्यंग्यवाद सुख कैसे होता है पहले मन में विषयाकार वृत्ति होती किस विषय को हम चाहते ये इदम में से आत्म से मिल जाए जो प्राप्त होता है तब तो मनोवृत्ति होती और मनोवृत्ति होने से तस्से सुख मिलता है कि कल्पना करते सुखाकार वृत्ति होती विषय प्राप्त हुआ विषयाकार मनोवृत्ति क्षणिक है मनोवृत्ति मन में परिणाम विषयाकार हो जाती है वृत्ति ये मनोवृत्ति के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है भोग आनंद की सुख की सुख है स्वरूप सुख उसकी अभिव्यक्ति होती है मनोवृत्ति के द्वारा इसलिए क्षणिक मनोवृत्ति के द्वारा व्यंग होने से वो क्षणिक है सुख जो मनोवृत्ति क्षणिक है उसके द्वारा ही अभिव्यक्ति होती सुख की इसे सुख अभिव्यक्त सुख भी क्षणिक मनोवृत्ति से अभिव्यक्त होने से वो क्षणिक है इस मंत्र कहते अत अनित्या मध्य क्षण भावित्वाद बुद्धिपूर्वक नाम विवेकवताम भोगेशु उपेक्षा उपलब्धिश्च तेषा आभासत्व प्रतिभाती जो बुद्धिपूर्वकारी कुछ तो है बुद्धि के बिना जैसे होता है ऐसे प्रभाव में चलते हैं करते हैं अभिवेक उनको कहा जाता है और कुछ बुद्धिपूर्वक विचार पूर्वक दूरदृष्टि से विचार करे करते यही विवेक उनको कहा जाता है जो बुद्धिपूर्वक विवेक बताम भोगे से उपेक्षा उपलब्ध है भोग में उपेक्षा ये दिखती विवेकियों को सामान्य लोग में भी अत्यंत अविवेकी भोग के पीछे बच्चे दौड़ते कुछ देखा उसके पीछे दौड़ते थोड़े समझदार व्यक्ति वो नहीं चलते झूठा है चुपचाप बैठते वो तो सामान्य कोई कुछ देखने के लिए कुछ कोई आया बाजा बाजा कुछ हुआ बस दौड़े देखने के लिए अब बड़े लोग बैठ कर देते हुए इसे होता रहता है क्या होता क्या देखना सामने कोई अगर कुछ बजा बस दौड़ते क्या क्या क्या कहा कोई झगड़ा करते कुछ आला हुआ बस दौड़ के इकट्ठे हो जाते और विवेक के लोग चुपचाप बैठते इसी प्रकार भोग के पीछे सामान्य भोग के पीछे अविवेक के लोग दौड़ते हैं और जो विवेक के साधु महात्मा सब छोड़कर गुहा में जाकर बैठते मांग कर रोटी खाकर चुपचाप बैठते हैं सांसारिक सुख के पीछे संसार लोग दौड़ते हैं और बड़े बड़े उसमें संसार में सुख प्राप्त करने वाले बहुत धन संपत्ति राजा महाराज भी छोड़ करके गद्दी को छोड़ करके अरण्य में चले गए अभी भी ऐसे बहुत अच्छे ऐसे संसार में बहुत सम्मान उच्च पदवी प्राप्त किए गए धन संपत्ति वाले छोड़ करके साधु बन करके रह जाते हैं ये विवेक है तो उपेक्षा दिखती है ऐसा नहीं होता तो इसे छोड़ करके सांसारिक सुख छोड़ कर क्यों और उनके पास भी बड़े बड़े करोड़पति लोग भी ढूंढ ढूंढ करके ऐसे महात्मा के पास जाकर पहुंचते हैं तो भी क्यों आता है इनके पास वो तो उनके पास सब कुछ प्राप्त है सब सुख प्राप्त है तो फिर उसको छोड़ करके आकर के कहा कष्ट हिमालय में कहा दौड़ करके चल करके पहाड़ के पर जाते हैं प्रणाम भी करेंगे कोई भेंट भी चढ़ाएंगे उपदेश ग्रहण करेंगे गुरु मानेंगे पूजा करेंगे कितने करते हैं यदि सुख उससे प्राप्त हो जाए इनके पास क्यों आते हैं बुद्धि कार्य उनका विवेक बताम भोगे से उपेक्षा उपेक्षा भोग की उपेक्षा करके बैठते उपलब्ध तेषा आभासत्व ये आभास वास्तव नहीं है सुख आभास ये भान होता है न तेसु रमते बुध ये सुख तो भोगेशु विवेकी अवगत परमार्थ तत्व अवगतम परमार्थ तत्व ये न जब परमार्थ तत्व अवगत हो जाता है तो भोग की इच्छा भोग नहीं परमार्थ तत्व प्राप्ति की इच्छा से भी भोग छोड़ कर गाते हैं पहले जो घर छोड़कर आते परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा से तो वो भोग छोड़कर आते हैं परमात्मा प्राप्ति की इच्छा से और जिनको साक्षात्कार हो जाते हो तो भोग से बिल्कुल उपेक्षा है मतेश्वर मत बुध अत्यंत मूढ़ा नाम है वही विशेष दृश्य थे यथा पशु प्रवृति नाम जो अत्यंत मूढ़ है उनके ही विषय में रहती ये पशु प्रवृति जैसे विषय में रहती इसी प्रकार है वस्तुतः जो विषय में रहती जो उसी के पीछे संसार प्रवाह में चले जाते हैं कोई साधु वैसे साधु गुरु कोई माए आकर के थोड़ी कुछ सीख करके आगे फिर धन इकट्ठी करना ख्याति प्राप्त करना उसमें चलेगी गई उनको क्या कहा जाएगा अत्यंत मूढ़ अत्यंत मूढ़ा नाम है वही विशेष होती उद्देश्य थे यथा प्रतना ये कोई विवेक का कार्य नहीं साधु वैसे बना करके अपना कर्तव्य छोड़ करके परमात्मा प्रति साधन छोड़ करके और लोक कल्याण के नाम से दिखाना हम लोक कल्याण करते किंतु अपने वासना पूर्ति के लिए संसारी को चले जाते हैं वो अभिवेकिता है प्रतीकोपादान आद्यम नृपेशु रमते बुध ऐसा रमते बुध भोगेश इदम पुनर्व्याख्यानम भोगेशु विवेकी बुधो आया तेसु बुधो रमते ये प्रतीक दिया विवेकी भोगेशु नारमते ननु केशांचित भोगेशु अभिरुचि उपलब्ध थे तथा वो रुचि तो बहुत लोगों की दिखती है भोग में बड़े खुश होकर के जाते हैं तथे अत्यंत मूढ़ाना में विशेष होती विशेष जहाँ रहती है अत्यंत मूढ़ों की श्लोक ये उत्तर श्लोक से तात्पर्य मार आगे श्लोक का तात्पर्य भगवान भाषीकार करते हैं अयम च श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी कष्टतम दोष सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु दुर्निवार्य तत्परिहारे यत्नाधिक्यम कर्तव्य भगवान यह श्रेय मार्ग प्रतिपक्षी श्रेय मार्ग के विपरीत है श्रेय मार्ग कल्याण मार्ग है परमात्मा प्राप्ति मुख्य प्राप्ति उसका विरोधी कष्टतम दोष ये दोष है सबसे बड़ा कष्टतम है सर्वानर्थ प्राप्ति तो सब अनर्थ की प्राप्ति का कारण और दुर्निवार्य निवारण करना बड़े दुख से होता है सरल से नहीं होता है वो कहेंगे काम क्रोध से जो वेग होता है काम क्रोध के कारण जो स्थिति होती है वो स्थिति सर्व प्राप्ति का कारण है उसका निवारण करना कठिन है तत्परिहार यत्नाधिक्यम कर्तव्य उसको परिहार करने के लिए यत्न से अधिकम अधिक यत्न करना चाहिए इतिहा भगवान भगवान स्वयं कहते ठीक है सेवा मार्ग प्रतिपक्षत्व कष्टतम हेतु श्रेय मार्ग प्रतिपक्ष श्रेय मार्ग के विरुद्ध होने से ही कष्टतम कष्टतम तो का कारण क्या है कि श्रेय मार्ग के विरुद्ध श्रेय मार्ग के विरुद्ध होने से सबसे कष्ट है तत्र हेतुअंतर और दूसरा क्या है सर्वानर्थ प्राप्ति हेतु प्रयत्नाधिक कर्तव्य से हेतु सूचयती अधिक प्रयत्न क्यों करना चाहिए क्योंकि दुर्निवार्य है निवारण करना है कर्म प्रयत्न से होता है प्रमाद से नहीं होता है अप्रमत्त होकर के प्रयत्न करे तो निवारण कर सकता है प्रसिद्ध ही काम को दो से वेग से दुर्निवार ये न मातारम अपनी अधीन होती पितरम अपनी हमती तम अवश्य परिहर्तव्यम दर्शयती ये प्रसिद्ध है काम क्रोध से उत्पन्न होता है जो वेग अधिक अधिक काम क्रोध उद्वेग होता है दुर्निवार निवारण करना बड़ा कठिन है इन मातारम अपनी होती मातार के ऊपर भी आरूढ़ हो जाता है पितरम अपनी हंत मार देता है अवश्य परिहर्तव्यम दिखाते शक्मती शक्नोति हैव सोढुम् शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् संयुक्तः स सुखी नरः संयुक्तः स सुखी नरः शक्नोति हैव सोढुम् प्राक् शरीरविमोक्षणात् यह प्राक सर्व विमोक्षणात् काम को तो ध्रुवम वेगम शोधम यह सपनोति सयुक्त स नर सुखी यही जीते जी प्राग सर्व विमोक्षणार्थ सर्व नष्ट होने के पहले यह काम क्रोधोद्भवन वेगम सोढ़ुम शक्नति ये काम क्रोध से होने वाले जो वेग है ये शरीर समाप्त होने तक ही रहता है समाप्त नहीं होता है विश्वास नहीं करना कि इसको मैं जीत लिया इसके पहले शरीर समाप्त होने के पहले भी जो इसके वेग को सहे कर लेता है आगे बढ़ना नहीं देता है काम को दबा देता है काम को जीत लेता है वही युक्त है वही सुखी है शक्नोति टीका में यथोत्तम वेगम बहिर् अनर्थ रूपेण परिणाम प्रागव देहां यह सुगुण क्षमते तौती वही अनर्थ रूपेण परिणाम आती ये जो वेग काम को जैसे वेग होता है बाहर अनर्थ उससे परिणाम होता है प्राग व देहांतर उत्पन्नम ऐसा पाठ है देहांतर देहांत उत्पन्न देहांतर उत्पन्न ऐसे देहांतर उत्पन्न देहांतर रू अंश कैसे होगा देहांतर उत्पन्न कैसे हो जाएगा देहांतर उत्पन्नम देहांत प्राग एवं देहांत उत्पन्न यह स्वरूप चमती देह के अंदर ही उत्पन्नम यह सगुण क्षमती देह के अंदर ही सह कर लेता है तो काम क्रोध उद्भव हुआ प्राग व देहांत उत्पन्नम यह सगुण क्षमती जो देह के अंदर ही सह कर लेता है उत्पन्न काम क्रोध देह को उसकी तुति करते संयुक्त संयुक्त ससुखी नर मरण सीमाकरण से तात्पर्य भाष्य में सकुमति का तो उत्साह समर्थ होता है यह का तो जीवन एव जीते जी यह सोढ़ का तो प्रसहित राग मतलब पूर्वम सर्व विमोक्षणाथ सदन नष्ट होने के पहले आमरणाथ मरने के पहले तो मरण सीमा करण का क्या तात्पर्य मरण सीमा करण जीव तो अवश्य भावी काम को दो द्वैव <coughs> जीवित जब तक है तब तक ये काम क्रोध से देगा अवश्य होता है अनंत निमित्तवान बहुत निमित्त से हो जाता है यावत मरणम तावत न विश्रम बने मरने तक उसमें विश्वास नहीं करना है कि इसको मैं जीत लिया काम को धोगा नहीं होगा ऐसा नहीं है ॐ शङ्करम्